जब तेरा दर्द कम हो जाएगा जब तेरा हर जख्म भर जाएगा मैं फिर आऊंगा तुझे नए जख्म देने आज से यही है तेरा मुकद्दर यही है तेरी सजा